पुरातत्व विभाग में से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो पूरी नहीं थी वहां से काफी रिकॉर्ड गायब था प्रोफेसर त्यागी ने आगे बताना शुरू किया हालांकि मुकेश और मुझे दोनों को पता था कि गोल्डन टॉम्ब के भीतर बने तालाब में जो पत्थर लगा हुआ है वहां पर भी नवाब हामिद खां के समय में चलने वाली लेखन शैली में कुछ लिखा हुआ है ऐसे में उस पत्थर पर बने चिन्हों और शब्दों को समझने के लिए हमें वहां से मदद मिल सकती है अच्छा तो आप लोग एकदम साफ साफ बताइए कि आपको उस पत्थर से क्या क्या क्लू मिला था विक्रांत ने सवाल किया उस पत्थर पर बने खजाने के नक्शे में पहाड़ी कोने के साथ ही एक और चीज का जिक्र था मुकेश ने कहा उस पर कुछ पत्थर ढाल जैसा शब्द लिखा हुआ था और ये बात हमें तालाब के भीतर लगे हुए पत्थरों की लिखाई पढ़ने के बाद समझ में आई पत्थर ढाल अब ये क्या है इसका क्या मतलब है विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए पूछा दरअसल जो ये पहाड़ी कोना है इसके चारों तरफ वैली बनी हुई है तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो पत्थर ढाल है ये किसी जगह का नाम है और इस जगह पहाड़ी कोना पर ही कहीं मौजूद है लेकिन ये जगह कहाँ है इसका कोई सबूत नहीं मिला हमें किसी हिस्ट्री के किताब में भी इस जगह के कोई जिक्र नहीं है लेकिन प्रोफेसर त्यागी ने कहा लेकिन हम जानते थे कि उस नक्शे में पहले से ही पहाड़ी कोना का जिक्र था और फिर उसके बाद पत्थर ढाल का नाम आया था ऐसे में हम श्योर थे कि पत्थर ढाल भी पहाड़ी कोना के कहीं आसपास में ही मौजूद है शेख मोहम्मद ने पत्थर पर जो कोडवर्ड लिखे थे उसे समझने में हमारी हालत खराब हो गई थी ओ फिर इससे तो आप लोगों को खजाना ढूंढने में थोड़ी मदद मिली होगी विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा इसके बाद तीसरे पर क्या था मतलब जो तीसरा कोडवर्ड था वो क्या था इस बार मुकेश ने सीधा ही बता दिया बरगद का पेड़ और इस कोडवर्ड को हमने तब जाना जब हमने सिटी म्यूजियम से नवाब हामिद खां के समय की लिखी हुई किताब को पढ़ने की कोशिश की मतलब कि आप लोगों को पत्थर पर गड़े हुए खजाने के नक्शे के कोडवर्ड को समझने के लिए तीन तीन जगह जाकर चोरी करनी पड़ी विक्रांत ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा हाँ उस पत्थर पर शेख मोहम्मद ने जिस शैली में खजाने के नक्शे का राज लिखा था वो बहुत मुश्किल शैली थी उसे सिर्फ वही समझ सकता था जो कि नवाब हामिद के समय का हो या फिर जिसे नवाब हामिद खां के राज्य में चलने वाली लेखन शैली के बारे में अच्छे से पता हो अब हमें तो ज्यादा कुछ पता था नहीं तो फिर जहां जहां हमें लगा कि नवाब हामिद खां के समय की शैली की लेखन सामग्री मौजूद है वहां वहां जाकर हमने उसे चुराने की कोशिश की ताकि हम लोग शेख मोहम्मद के बनाए हुए नक्शे को समझ सकें मुकेश रस्तोगी ने विक्रांत को समझाया ओ अच्छा फिर फिर आगे क्या हुआ विक्रांत ने फिर से सवाल किया अच्छा आप बरगद के पेड़ के बारे में बता रहे थे मतलब कि पहाड़ी कोना के पास कहीं पत्थर ढाल नाम की जगह है और फिर वहां पर बरगद का पेड़ मतलब अभी तक आप लोगों को खजाना मिला नहीं है क्योंकि तो अगर खजाना मिल गया होता तो फिर आप दोनों का जिंदा रहना नामुमकिन है हम्म, सही बात है इस बरगद के पेड़ ने ही हमारी जान बचा ली है प्रोफेसर त्यागी ने जवाब दिया उन लोगों ने पहाड़ी कोना के आसपास का पूरा जंगल खंगाल डाला लेकिन कहीं भी उन्हें बरगद का पेड़ नहीं मिला जो जाहिर है जब तक उन्हें ये बरगद का पेड़ नहीं मिलता है तब तक उन्हें खजाना भी नहीं मिल सकता था और फिर तब तक वो लोग हमारी जान भी नहीं ले सकते थे हम्म सही बात है विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा और ये पेड़ ना जाने कितना पुराना रहा होगा हजारों साल पुराना पता नहीं कहाँ होगा हो सकता है अब तक गिर गया हो अब जब तक ये बरगद का पेड़ मिल नहीं जाता है तब तक खजाना भी नहीं मिल सकता था विक्रांत ने पूछा फिर आगे क्या हुआ आगे क्या प्लान था दरअसल उस पत्थर पर शेख मोहम्मद ने कुल छह हिंट दिए थे मतलब कि खजाने तक पहुंचने के लिए कुल छह कोडवर्ड पत्थर पर गड़े गए थे मुकेश रस्तोगी ने बताया छह कोडवर्ड मुझे तो अभी तक लग रहा था कि बस यही तीन थे विक्रांत ने थोड़ा चौंकते हुए कहा अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ आगे के कोडवर्ड के बारे में क्या पता चला तीन तो हमें पता चल गया था पहाड़ी कोना पत्थर ढाल और बरगद का पेड़ चौथा वाला हमें समझ ही नहीं आया बाकी के जो दो बचे हैं वो हैं अर्धचंद्र गड्ढा और झरने का पत्थर क्या ये सब क्या है विक्रांत चौंक पड़ा उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ओ ये सब सुनकर तो नैना भी हैरान होगी उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कोई आदमी इतने सारे कोडवर्ड कैसे बना सकता है ये कोई सिरफराही ये कोई सिरफराही था शायद और खजाने को छुपाने के पीछे इतने राज ऐसे तो कभी कोई इस खजाने तक पहुंच ही नहीं पाएगा विक्रांत इस दो नए कोडवर्ड से कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा कि जहां तक मुझे समझ आ रहा है इसका मतलब ये है कि खजाने को कहीं किसी गहरे अर्धचंद्र आकार के गड्ढे में छुपा कर रखा गया है और इस गड्ढे को किसी झरने के पत्थर से ढका गया है है ना लेकिन इतने सालों बाद भी क्या अभी तक वो गड्ढा सही सलामत होगा हमें भी यही लगा था मुकेश ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा लेकिन नवाब साहब का सेनापति शेख मोहम्मद बहुत ही शातिर आदमी था वो ऐसी जगह पर बेशकीमती खजाना छुपाने की गलती नहीं करेगा उसने किसी और सुरक्षित जगह पर इसे छुपाया होगा कुछ दिन तक गुरुजी और उसका पूरा गैंग यहाँ जंगल में खजाने को ढूंढते रहे प्रोफेसर त्यागी ने आगे बताना शुरू किया लेकिन उन लोगों को वो प्लेस अभी तक नहीं मिला जो बरगद के पेड़ अर्धचंद्र गड्ढा और झरने के पत्थर वाले कोडवर्ड को मैच कर सके गुरुजी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इसे ढूंढने में उसने दिन रात एक कर दिया था लेकिन कोई फायदा नहीं मिला अब वो लोग अगले दिन यहाँ से दक्षिण दिशा में जाने वाले थे लेकिन आज सुबह ही ऐसा हो गया कि हाँ आज सुबह आज सुबह क्या हुआ था वो धमाका नैना ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया मुकेश ने हल्की सांस छोड़ते हुए बोलना शुरू किया ये गुरुजी बहुत चालाक आदमी है वो हमेशा अपने लिए एक बैकअप प्लान बनाकर चलता है जब वो जंगल आ रहा था तो अपने साथ वो काफी सारे बम भी लेकर आया हुआ था उसे लगा था कि शायद जंगल में पत्थर आदि तोड़ने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है लेकिन किसे पता था कि वो इस बम से इंसानों को ही उड़ा देगा ये लोग हमेशा इस विस्फोटक को अपने साथ लेकर चलते थे और रात को सोते समय ये इसे कैंप के आसपास ही किसी पत्थर की गुफा में रख देते थे कल रात को भी यही हुआ था लेकिन आज सुबह गजब ही हो गया हम दोनों को एक अलग ही टेंट में रखा गया था हम पर नजर रखने के लिए एक और आदमी हमारे साथ था आज सुबह जब तड़के हमारी नींद खुली तो पता चला कि हमें चारों तरफ से पुलिस फोर्स ने घेर लिया है पुलिस वाले चिल्ला चिल्ला करके सबको बाहर निकाल रहे थे हम लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी हमें लगा कि अब हम यहाँ से सुरक्षित बचकर चले जाएंगे हमारा टेंट एक किनारे पर था और पुलिस वाले यहाँ दूसरी साइड में घुसे थे इसलिए हम लोग चिल्लाकर मदद के लिए भी उन्हें नहीं बुला पा रहे थे पुलिस वालों ने गुरुजी और उसकी पूरी गैंग को घेर लिया और फिर उन्होंने सब पर बंदूक तानते हुए सभी को सरेंडर करने के लिए कहा पहले तो गुरुजी के गैंग ने सरेंडर करना शुरू भी कर दिया था लेकिन फिर अचानक से इन लोगों ने पुलिस वालों पर अटैक कर दिया पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को उसी गुफा में छुपा लिया जहां पर इन लोगों ने बम स्टोर कर रखा था फिर फिर जैसे पुलिस वाले वहां जाकर बैठे तुरंत ही गुरुजी के एक आदमी ने वहां रखे विस्फोटक पर गोली चला दिया और फिर वहां जोरदार धमाका हो गया और सारे पुलिस वाले मारे गए उसके बाद ये लोग हम दोनों को भी मारने जा रहे थे तभी आप दोनों लोग वहां पहुंच गए और किसी तरह से हमारी जान बच गई ये सब बताते बताते मुकेश की आंखें नम हो चुकी थी ओ नो ये सब सुनकर विक्रांत और नैना के भी चेहरे पर दुख का भाव आ चुका था इस कहानी का सीधा सा मतलब ये था कि वाकई में देवाशीष मुखर्जी की मौत हो चुकी है भले ही विक्रांत देवाशीष को पसंद नहीं करता था लेकिन फिर भी देवाशीष के एक ईमानदार और काफी अच्छा जासूस होने के नाते उसके बारे में सोचकर काफी दुख हो रहा था बेचारा इतना होनहार जासूस अपराधियों के हाथों मार दिया गया अच्छा ये गुरुजी के बारे में आप लोग कुछ जानते हो नैना ने सवाल किया इसका असली नाम क्या है और इसका घर वगैरह कहाँ है हम तो उसे गुरुजी के नाम से ही जानते हैं असली नाम क्या है हमें नहीं पता उसे मणिरत्रम बुला के लेके आया था हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है प्रोफेसर त्यागी ने जवाब दिया हाँ इतना कह सकते हैं कि वो मुंबई का ही रहने वाला है क्योंकि उसकी भाषा यहीं की लग रही थी और उसके सभी साथी भी मुंबई के ही लग रहे थे वो भी इधर की इधर की ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे और उसने अपना नाम गुरुजी शायद खुद ही रखा है मुकेश ने कहा अब तक ये चारों लोग टेंट के पास पहुंच चुके थे वहां पहुंचते ही नैना ने तुरंत ही विक्रांत का फोन लेकर हेडक्वार्टर पर फोन लगाना शुरू कर दिया ताकि वहां से मदद मिल सके जबकि विक्रांत के दिमाग में अभी भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब वो उन दोनों ओल्ड एक्सपर्ट से जानना चाहता था भले ही उन दोनों लोगों ने विक्रांत को पूरी कहानी समझा दी थी लेकिन फिर भी अभी उसके मन में कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई थी अभी भी उसके मन में इस मकबरे के मर्डर केस को लेकर कुछ कंफ्यूजन बनी हुई थी उसे लग रहा था कि मकबरे के खजाने और वहां के मर्डर केस के साथ ही अभी उसे और भी कई क्लू ढूंढने बाकी हैं। विक्रांत को मन ही मन लग रहा था कि अगर इन दोनों एक्सपर्ट से बात की जाए तो फिर और भी काफी कुछ निकल कर सामने आ सकता था अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से नैना के हाथ में फोन बज पड़ा इस बार विक्रांत के फोन का रिंगटोन बिल्कुल अलग था ये ना तो एसएमएस का टोन था और ना ही नॉर्मल कॉल का टोन था यहाँ तक कि व्हाट्सएप कॉल का भी टोन नहीं था दरअसल ये वॉकी टॉकी का टोन था दरअसल विक्रांत के फोन में इमरजेंसी के लिए वॉकी टॉकी का सिस्टम भी था जिससे पुलिस वाले आसपास में मौजूद लोगों से कनेक्ट कर सकते थे लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि यहाँ जंगल में भला कौन इतने करीब है जो उसे वॉकी टॉकी पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कहीं ये देवाशीष जिंदा तो नहीं है या या कोई उसकी टीम का मेंबर हो हो सकता है कोई दूसरा पुलिस वाला हो विक्रांत ने मन ही मन सोचते हुए कहा नैना ने बिना कुछ कहे इस कॉल को उठा लिया फोन उठते ही एक भारी आवाज सुनाई पड़ी हेलो हेलो लाइन चल रही है हा हा ओ ये आवाज तो उसी कमीने गुरुजी की है